राम प्राण प्राण तुम्हारे तुम रघुपति प्राण होते प्यारे हे दुखी सब चव श्रवहे

सपने हो सुख सुगति न श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते इसमें तुम्हारी सम्मति है जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे अस कहे मातो भरत हेलाए थन पय श्रव हे नयन जल छाए बलाप बहुतये भे बि सबराते सबराती वामतेव बयाए सचिव महाजन सकल बुलाए मुनि बहु बहुभाति भरत उपदेश कहे परमारथ बचन सुदे ऐसा कहकर और ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया सात हृदय हो धरहु करहु जो अवसर उठे भरत गुर बचन सुने करण कहे ओ सब साज वशिष्ठ जी ने कहा हे तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा निपतन वेद वेदतयन्वारम विचेत्रमि मनो बा गी पद भरत मातु सब राखे रहे राणि दर सनय भिला चन्दनयगर भर बहुवामतयनेक सुगन्ध सुहाय सरजोतिरचि चिता बनाये जनुसुरपुरसो पान वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर गुलगुल केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए सरजू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो यही विधिदाह क्रिया सब के विधिवत नाये तिलांजल देव सुमृते सब वेद पुराणा केन् भरत तस गात जस मुनि बर आय सुदेधा तह तस सहस भाति सब केधा शोध दिए सब दाना बाज गज बाहन नाना इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सब ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी फिर वेद स्मृति और पुराण सब का मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दशगात्र विधान दस दिनों के कृत्य किया मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए गौवें तथा घोड़े हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ सिंहासन भूषण बसन अन्न धन धाम दिए भरत लहि भूमिसुर हे परिपूरण काम सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए अर्थात उनकी सारों मन सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई